क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और रास्तों में डाके डालते हो और अपनी भरी मजलिस में बदी का इरतकब करते हो फिर उनकी कौम के लोगों के पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने कहा ले आओ हम पर अल्लाह का अजाब अगर तुम सच्चे हो